सुप्त सद्भाव प्रमाण शब्द ग्रहणानीत श्रोत्र शब्द ग्रहण शब्द ज्ञान से अनियमित होता है श्रोत्र इंद्र श्रोत्र क्रिया ही कर्ण साध्या दृष्टा या या क्रिया सा कर्ण साध्या यथा छिदादिर वास्यादि साध्या वास्या वासुला है छेदन वास्य कुठर आदि साध्य है छेदन आदि जिस प्रकार आदि साध्य है क्रिया कर्ण साध्य है यहाँ जो यह शब्द ग्रहण क्रिया भी कर्ण साध्या भवितव्य शब्द ग्रहण शब्द ज्ञान रूप जो क्रिया है वो भी कर्ण साध्य होनी चाहिए कर्ण साध्य भवितव्य जिस कर्ण से शब्द ज्ञान होता है वही तो सूत्र है यच्च कर्णम तच सूत्र जो कर्ण शब्द ग्रहण का कारण है असाधारण कारण कर्ण वो सूत्र है यदि अतः चक्षुरादे एवं कस्मात कर्ण न भवती ये तो इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए अनुमान से निश्चय करते हैं चक्षु भी कर्ण प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका जो दिखता है तो स्थान गोलक है तो रूप ज्ञान से अनुमान करते चक्षु चक्षु का शब्द ज्ञान से जिस प्रकार श्रवण इंद्र का अतः से चक्षुरादेव अकस्मात कर्ण न होती शब्द ज्ञान के लिए कर्ण एक श्रोत्र इंद्र के मानेंगे चक्षुरादि कर्ण से शब्द ग्रहण हो जाए इतः बधिरा बधिरो एक शब्द गृहणाति अपर न गृहणाति थी एक बधिर एक अवधिर बधिर शब्द गृहणाति बधिर शब्द एक शब्द गृहणाति कह बधिर एक शब्द गृहणाति कह एक शब्द न गृहणाति बधिर अपर न गृहणाति इसलिए क्या हुआ ये दोनों के ग्रहण करता है कि नहीं करता है दोनों के आंख होने पर भी तो चक्षुर इंद्रिय से अलग श्रवण श्रवण इंद्रिय मानना पड़ेगा तथा तो श्रोत्र में वह शब्द विषय शब्द को विषय करने वाले श्रवण इंद्रिय टीका में अन्य व्यतिरिकाभ्याम अवधारणम श्रवण इंद्रिय सत्य शब्द ग्रहणम तद अभाव तद अभाव तो श्रवण इंद्रिय शब्द ग्रहण का कारण मानना पड़ेगा उपलक्षण से ये उपलक्षण है त्वग बात चक्षु तेजसो रसनोदक नासिका पृथ्वी संबंध संयवाद दिव्यत्वगाद्यपि उभनीयम जिस प्रकार इसी में कहा गया श्रोत्राकर्ष आकाश संबंध संयवाद दिव्यम श्रोत्रम इसी प्रकार त्वग और वायु इसमें संयम करेंगे आश्रय त्वग तो इंद्र का चक्षु और तेज रसन इंद्र जल ये नासिका और पृथ्वी ग्रह इंद्र पृथ्वी इन्हीं के संबंध में संयम करने पर दिव्य त्वग चक्षु रसन इंद्र आदि का लाभ होगा वह नियम भाष्य में श्रोत्राकाश हो संबंधे कृत संयम से योगिनो दिव्यम श्रोत्र प्रवर्तते कृत संयम से योगिन कृत संयम ये नहीं उसका दिव्य स्त्रोत्र होता हो जाता है कायाकाश संबंध संयम लघु तूल समापत्ति आकाश गमनम कायाकाश संबंध संयमात काय शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से धारणा ध्यान समाधि करने से अथवा लघु तूल समापत्ति लघु जो हल्का तूल आदि उसमें संयम करने से आकाश गमनम जो तुलादि लघु हल्का है उसमें संयम करने से स्वयं शरीर हल्का हो जाएगा तो आकाश में चलेगा गमन करेगा काया आकाश संबंध संयम अथवा लघुरीवा तुला दुकृत संयमात लघु तुलादि में संयम करने से समापत्ति में चेतस चेतक की समापत्ति समाधि तस्थ तजन तंजनता लब्धवा स्थित तदंजनता उसे अभिव्यक्त हो जाती है संबंध को जीत लेने से जीत संबंध को जीत लेगा जीत लेने से हल्का हो जाएगा लब्ध्वा सिद्धिक्रम जले यत्र काय तत्र आकाशम तसे अवकाश धनाद काय से उसके पहले बात हो गया आकाश अवकाश देता है तेन संबंध है प्राप्ति काय के साथ आकाश का संबंध तत्र कृत संयम जीतवा तत्सबंधम संबंध को जीत करके लघुषु व तुलादिशु आ परमाणु समापत्ति लब्ध्वा तुलादि लघु हालिका पदार्थ में परमाणु से लेकर के समाधि करके जित संबंध हो लघु संबंध को जीत लिया तो स्वयं हल्का आ जाता है लघुत्वाच जल पादाभ्यम रहती हल्का हो जाने से जल में डूबता नहीं पाद से चल जाता है ऊपर ऊपर पानी ततस्तु नाभि तंतु मात्र विहित ततस्तु उन्न नाभि उन्न मकड़ी के जो धागा है उसमें भी ऊपर चढ़ जाएगा मकड़ जैसी जाती है रश्मि से विहरसी रश्मि में भी चल जाएगा हल्का होकर के तत्व तो यथेष्टम आकाश गति से भवती फिर आकाश में गमन भी जहाँ चाहेंगे चलेगा ठीक है मैं आकाश संबंध संवाद व लघुनि व तुलादुकृत संवाद समापत्ति चेत से लब्धवा सिद्धिक्रम कहा जल में भी चल गया पाद के द्वारा अपरम पर शरीर आवेश हेतु संयम क्लेश कर्म विपाक क्षे हेतु माह क्लेश अविद्यास्मिता पंच क्लेश कर्म विपाक ही जाति भोग इसके क्षय का हेतु है संयम पर शरीर आवेश हेतु संयम पर शरीर में प्रवेश का हेतु संयम कहते हैं बहिरकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा प्रकाशावरण क्षय है देह के बाहर अकल्पिता वृत्ति इसका नाम महाविदेहा उसे प्रकाश आवरण क्षय आवरण क्षय हो जाता है प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का जो आवरण है उसका क्षय बुद्धि सत्व प्रकाशात्मक उसमें आवरण तमगुण आदि है उसका क्षय होता है रजगुण तमगुण का क्षय हो जाता है विदेहा आह विदेह कहते शरीराद बैरी मनस वृत्तिलाभ विदेहा नाम धारणा मन जब शरीर के बाहर मन को लगाना वृत्तिलाभ ये विदेह नाम का धारणा है ठीक है अकल्पिताया महाविदेहाया ये उपाय तत्प्रदर्शनाय कल्पिता विदेहा महा वास्तव महाविदेह का जो उपाय है उसको दिखाने के लिए कल्पित विदेह पहले कहते विदेह सा यदि शरीर प्रतिष्ठा स मन से बहिर्वृत्ति मात्र न होती सा कल्पित है उचित मन शरीर में रह करके बाहर में वृत्ति होकर के मन की यदि इसे बाहर चिंतन होता है धारणा होती है उसको कल्पित तो कहते हैं क्योंकि मन बाहर नहीं अंदर है केवल उसकी वृत्ति है बाहर या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत से व मन से बहिर्वृत्ति पाक लोकल्पित शरीर के अपेक्षा हुए ना मन बहिर्भूत होकर बाहर शरीर के बाहर जा करके बहिर्वृत्ति हो जाए वो वास्तव है अकल्पित तत्र कल्पितया साधे अकल्पिता महाविदेहामिति पहले कल्पित महाविदेह मन शरीर में रह करके बाहर विषय चिंतन करता है धारण ध्यान समाधि करता है उसके बाद मन शरीर को छोड़ कर बाहर जाएगा तो अकल्पित वास्तव महाविद्य हो जाएगा कल्पित विधेय के द्वारा अकल्पित महाविद्याम साधयती कल्पितया साधयती अकल्पिता महाविद्याम कल्पितया विधेयाया से महाविदेह अकल्पित को सिद्ध करता है यथा पर शरीरानी आविशंति न योगी अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं ततश्च धारणात प्रकाशात्मन बुद्धि सप्तस्य यदावरणम क्लेश कर्म दीपक त्रयम रजतम मूलम तस्क्षय होती ऐसे धारणा कर्म से प्रकाशात्मान विक्षिप्त प्रकाश आवरण क्षय प्रकाशात्मक जो बुद्धि में सत्वगुण है उसका जो आवरण है आवरण है क्लेश कर्म विपाक त्रय क्लेश कर्म विपाक ये आवरण है बुद्धि सत्व का रजस्तम मूलम रजस्तमस्य रजस्तमसी मूले यस्य विवाह त्रय आवरण से रजस्तम मूलम तस्य क्षय होती ये आवरण का क्लेशकर्म विपाकतर आवरण उसका क्षय हो जाता है टीका में वृत्तिमात्र कल्पना ज्ञान मात्र तेना वृत्तिमात्र ही कल्पना ज्ञान महाविदेहा मह या तो उपायोपेयता कल्पिता अकल्पित राह या तो या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूत से वो मनुष्य बहिर्भूति सा कल्लो अकल्पिता <laughs> उपाय उपेयते कल्पिता कल्पितो राह कल्पिता कल्पिता च अकल्पिता च कल्पिता कल्पिते हो उपाय उपेयते उपाय कल्पित उपेय अकल्पित कल्पित वृत्ति से अकल्पित वृत्ति होती कल्पित वृत्ति मन अंदर रह करके बाहर वृत्ति होनी ऐसे करने पर फिर मन बाहर भी जा चले जाएगा अकल्पित वृत्ति तत्र कल्पया अकल्पिता महात विधि हम साधय किम पर शरीर मात्र इत इसे केवल पर शरीर प्रवेश हो जाएगा नहीं क्या ये नहीं ततच धारणात प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का आवरण नष्ट हो जाता है ततो धारणा तो धारणा तो महाविदेहाया मन प्रवृत्ति सिद्धे धारण से महाविदेह रूप मन प्रवृत्ति की सिद्धि हो जाती है तो क्लेश से कर्म चाभ्याम विपाक त्रयम केश कर्म से विपाक त्रयम जात्यायुर्भोगा जन्म आयुर्भोग तदेत रजस्तम मूलम रजतमसी मूलय से रजतम मूलक विपाकत्रय विगलित रजतम सह सप्तमात्राद विवेक ख्याति मात्र समुत्पादात रजतम नष्ट होने पर सप्तमात्र से विवेक ख्याति मात्र से उत्पन्न होता है तदेत विपाकत्रय में रजतम मूलतया तदात्मकम सत बुद्धि सत्तम आरुन्नति तीनों जातीय विभाग त्रय रजस्तम मूलक है तदात्मक होकर के बुद्धि सत्य का आवरण करता है तत्याच निरावरणम योगी चित्तम यथे यथे व्यरति विजानाति च जब ये तत्याच बुद्धि सत्व का आवरण करता है राजस्तम मूल है राजस्तम विपाक ये जो क्षय हो जाता है आवरण रहित हो गया चित्त यथेम व्यरति जहाँ चाहता है जाता है सौ जान भी लेता है तत्स्य धानात्म प्रकाशात्म बुद्धि तत्व से आवरण क्लेश कर्म विपाक रजतम मूलम तस्य क्षय भवती स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थवत्व संयमात भूत जय स्थूल रूप है स्वरूप है सूक्ष्म है अन्वयार्थ वत्व संयमात भूत जय भूतों का जय हो तत्र स्थूल शब्द का अर्थ कहते स्थूल आदि मध्य तत्र पार्थिवाद्या शब्दादय विशेषा सह आकार आदि भी धर्मी स्थूल शब्द न परिभाषिता एक भूतान प्रथम रूपम भूतों का प्रथम रूप हो गया पार्थिवादि है शब्दादय विशेषा उसमें शब्दादि विशेष है सह आकार आदि भी धर्मी आकारादि धर्म से युक्त होकर के स्थूल शब्द से परिभाषित उसको स्थूल शब्द से कहा गया टीका में स्थूलम च स्वरूपम च सूक्ष्म अन्वय से अर्थवत्व इति स्थूल सूक्ष्म स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व स्थूल च स्वरूपम च सूक्ष्म अन्वय से अर्थवत्व अलग अलग स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय ते तो स्वयं तजय तो जिन जिन में स्वयं करेगा उसको जीत लेगा स्थूल माह स्थूल क्या है तत्र पार्थिवाद्या शब्दादय विशेषा सह आकारादि भी धनुर स्थूल शब्द न परिभाषिता पार्थिवादि शब्दादि विशेष पार्थिव शब्द अलग है सह अकारादि धर्म अकारादि धर्म के साथ स्थूल शब्द से कह गई टीका में स्थूलम च स्वरूपम च सूक्ष्म च अन्वय अर्थवत्वम स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अर्थवत्वानी तेस स्वयं तज जिसमें स्वयं करेगा उसको जीत लेगा स्थूल तत्र पार्थिव तुलादिश सुमते पार्थिव आदि स्थूल शब्द आदि असहकारादि धर्म स्थूल शब्द में पार्थिव पार्थिवा पातीय पातिया तो पात ही पात किया पात अच्छा पात से पातस्य बने पातस्या तेजसा वायव्या ये पात से जल संबंधी और तेज वायु संबंधी तेज आकाशिया शब्द स्पर्श रूप गंधा आकाश में शब्द स्पर्श रूप से गंध पांच यथासंभव विशेषा षड्ज गांधारादय शीतोष्णादय निरपितादय कपा कषाय मधुरादय सूर्यादय सर्ज गंधार गांधारादय ये विशेष हो गया शब्द है धन शीतोष्णादि स्पर्श है निरपितादि रूप है कषायम मधुरादि सूरभ्यादि सुगंध है ये ही नाम रूप प्रयोजन ही परस्पर तो विद्यंत विशेषा सबका नाम रूप और प्रयोजन भिन्न भिन्न है ऐसे भेद हुआ विशेष हुआ एतेषाम पंच पृथ्व्याम पांच ही पृथ्वी में रजवजम चतर अवसु रज छोड़ेंगे तो चार रहेगा जल में कितने चार क्या क्या चार है रूप रस गंध स्पर्श स्पर्श रूप रस स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श शब्द मात्र ये नाम रूप प्रयोजन में परस्पर तो विद्यति विशेषा गंधर सवर्जम त्रयस तेजसी तेज में तीन ही स्पर्श स्पर्श रूप गंधर सवर्जम आगे गंध रस रूप वर्जन दो नवस्पति वायु में गंध रूप रस तीन में क्या है वायु में गंध है रूप है रस है वायु में और है स्पर्श पार्थिवा पाथी ऐसा पाथसिया अंतिम प्रति ते एते गंधरस वर्जम त्रय तेजसी तेज में गंधरस दोनों को छोड़ दिया और कितने रहेगा क्या रहेगा शब्द स्पर्श रूप गंधर्व स्वरूप वर्जन दो नवस्पति वायु में दो शब्द स्पर्श शब्द एवं आकाशे तेज ईदृशा विशेषा सह आकारादि भी आकारादि बनने के साथ शब्द से धर्म स्थूल शब्द न परिभाषित ये सब आकार आदि के साथ स्थूल शब्द से कहे जाते हैं शास्त्र में तत्रापि पार्थिव तावत धर्म पार्थिव धर्म कहते हैं आकारो गौरव रोक्षम वर्णम स्थर्य में वृत्तिर्भेद क्षमा कार्यम काठिन्यम सर्वभोग्यता ये सब काठिन्य है पृथ्वी में धर्म आकार घटपट का आकार है गौरव गौरव क्या है गुरुत्व रौक्ष रुक्ष है रुक्ष है कर्क से वर्णम आवरण है स्थर्य तीरता है वृत्ति कहीं रहना पड़ता है वेदन वेद क्षमा सब कुछ सह करना सब उसमें रहते हैं पृथ्वी कार्स्यम कार्स्यम पतलापन कठिन भी हो जाता है सर्वभोग्यता सर्वता भोग्य अपाम धर्म कहते हैं स्नेह सौक्ष्म प्रभा सौक्ल्यम मार्दवम गौरवम च शैत्यम रक्षा पवित्रत्म संदानम चौधका गुणा स्नेह सूक्ष्म तो सौक्षम उक्वंत प्रभा है अभास्वर प्रभा है भास्वर तेज प्रभा सौक्ल शुक्ल वर्ण है मार्दव मृदु है गौरव गुरु वजन है शैत्यम रक्षा पवित्र सत्य स्थित रक्षा करने का सामर्थ्य पवित्र संधान उदता गुण संधान मिलन तेजस धर्म ऊर्धभाग पावकम तद्री पाचकम लघुभास्वरम प्रध्वंस सोजस्वी वही तेज पूर्वेभ्य पूर्वाभ्यम पूर्वाभ्याम लक्षण पाप को ऊर्धभाग ऊर्धम तो ऊर्धभाग दग्धाहक पाचकम लघु भास्वर भास्वर प्रकाश लघु है प्रध्वंस ओजस्वी प्रध्वंस ध्वंस होने वाला ओजस्वी तेजस्वी है तेज पूर्वेभ्यो भिन्न रचना पूर्वाभ्याम भिन्न रचना पूर्वा कौन है पृथ्वी और जल बिंदुषण वायव्या धर्मा तिरज्ञानम पवित्रत्व आक्षेप नोदनम बलम चलम अच्छा तारोक्ष्यम वायु धर्म पृथक विदा तिरग वायु का धर्म पवित्रत्व आक्षेप आक्षेप आक्षेप पातन गिराना आक्षेप हो गया पवित्र तो आक्षेप नूदन बलम नूदन संयोग है एक अभिज्ञात एक नूदन शब्द जनक संयोग होता है अभिज्ञात श्रद्धा जनक संयोग है नोदन घटाकाश संयोग बलम चलम अछायता रूक्षम वायुर्धर्मा पृथ्वीता चलने वाला है छाया नहीं थी वायु की वृक्ष है वायु का धर्म ही धर्म है आकाश या धर्म है स्वर्ग तो गतिरव्यो विष्टम्भस्ेति चत्रय आकाश धर्म व्याख्याता पूर्व धर्म विवेचन सर्वतो गति अप्रतिहो अविष्टम्भ त्रय और अविष्टंभ विष्टंभ उसका कोई आश्रय नहीं है ये तीन है आकाश धर्म व्याख्याता आकाश के धर्म है पूर्व धर्म विरचना पूर्व धर्म के विषय विलेचन है आकाश का धर्म आकाश का धर्म क्या है कितने का धर्म है सर्वतोगति अव्यूह अभिष्टम हो व्यूह नहीं होता संघात नहीं होता विष्टम आश्रय नहीं करता सर्वव्यापक है पूर्व धर्म विरचन ते आकार प्रभुत धर्म तेई सहित ये आकार भूति धर्म है उनके साथ सहाकार आदि भी कहा गया था सहाकार आदि भी धर्म ही स्थूल शब्द से कहे जाते हैं ते ही सह आकार से सामान्य विशेष गोत्व आदि आकार है क्या सामान्य विशेष गोत्व आदि द्वितीय रूप माह द्वितीय रूप क्या है स्थूल के आगे स्वरूप स्वरूप द्वितीय स्वसामान्य द्वितीय रूपम स्व सामान्यम द्वितीय रूप का मूर्तिर्भूमि स्नेहो जलम बहिष्ण बहिष्णता वायु प्रणामी सर्वतोगति आकाश एक स्वरूप शब्द ये स्वरूप शब्द से स्वच्छ सामान्य रूप मूर्ति भूमि स्नेह जल वन्य उष्णता वायु प्रणामी सर्वतोगति आकाश से ये सब कह स्वरूप शब्द द्वितीय रूपम सामान्य मूर्ति सांस्कृतिकम काठिन्य स्वाभाविक कठिनता है स्नेहो जलम मज्जा पुष्टि बलाधा हेतु स्नेह से जल मज्जा पुष्टि बल आधान का बल उत्पत्ति का हेतु वन्य उष्णता उदरीय सौर्य हमेशा सर्वत्र तेजसी तो उष्ण उष्णती उधर में स्व भी सूर्य समाधि हो भूमि चंद्र समाधि हो सर्वत्र तेज तेजस समवेत उष्णता सर्वतेज में उष्ण स्पर्श है संभाषण से सर्वचेत धर्म धर्मिनो अभेद विवक्षा अभिधान धर्म धर्मी में अभेद विवोचा करके कहा वायु प्रणामी प्रणामी का तो बहुत तथा चलने गुप्तनादीना शरीर स्थाटन शरीरस्या शरीर अटन च सर्वगम वायु सामान्य नामित्व अनुमीयते चलन के द्वारा तीनादीना चलन सर्वस्य अटन च सर्वगम वायु सामान्य अनुमीयते सर्वत्र जाने वाला चलने वाला ये वायु सामान्य सर्वत्र नामित्व वो नामी है संज्ञा है उसमें नामित्व अनुमान करते हैं सर्वत्र गति आकाश सर्वत्र शब्द उपलब्धि द्विदर्शन सर्वत्र शब्द उपलब्धि होती है आकाश में सूत्रा से सूत्रा से आकाश गुण नहीं शब्द न पार्थिव शब्द उपलब्धि उपाधित मतलब सूत्र आकाश सूत्र से आकाश गुणी श्रवण इंद्रिय का जो आश्रय है आकाश गुण से आकाश गुण शब्द सूत्राश्रय सूत्र आश्रय श्रवण इंद्रिय में रहने वाला श्रवण इंद्र आकाश में आकाश में श्रवण इंद्रिय रहता है आश्रय हो गया सूत्र का से आकाश सूत्र का से आकाश गुणिणी आकाश का गुण शब्द सूत्र का से आकाश आकाश का गुण शब्द सूत्र से आकाश नहीं शब्द न पार्थिवादि शब्द उपलब्धि उपादित पार्थिवादि शब्द की उपलब्धि होती ये पहले प्रतिपादन किया ये तो स्वरूप शब्द न उत्तम ये स्वरूप शब्द से कहा यहाँ तक स्नेह जलम बनी विष्णुता वायु प्रणामी गति आकाश से स्वरूप शब्द मुख्यते स्वरूप के बाद आएगा सूक्ष्म आगे अमृत तो ठीक है मूर्ति आदि चलन न तेनादिना शरीर सर्वत्र सर्वगम वायु सामान्य नाम से तो मनोगति सर्वत्र गति आकाश सर्वत्र शब्द उपलब्धि दर्शनार्थ सूत्र से आकाश सूत्र श्रोत्र से आकाश गुण सूत्र का से आकाश गुण शब्द सबसे पार्थिवादी शब्द उपलब्धि होती उपोपादित मतकार ये तो स्वरूप शब्द ने उत्तम अस्व मूर्त्यादि सामान्य आगे अस्व अश्य सामान्य से शब्दादि विशेषा अश्य सामान्य का शब्दादि विशेष है सामान्य का शब्दादि कैसा है शब्दादय सर्जादय उष्णत्वादय शुक्लतादय कषायतादय स्वरूपतादय मूर्ति आदि नाम सामान्य नाम भेद मूर्ति आदि में भेद शब्द षर्जादि स्वर उष्णतादि स्पर्श शुक्लतादि रूप कषायतादि स्वरूपतादि सामान्य अन्य मूर्त्यादिनी जम्बीर पतन जम्बीर पनस आमर कपलादिनी प्रसाद वेदात परस्पर व्यावर्तन थे जम्बीर कटा पनस है कटहल मीठा लगता है आमर को साधर फलाधीन रसादि भेदात परस्पर में व्यापृत होते रस और फल के रूप भिन्न भिन्न है परस्पर भेद होता है तेन सा एते रसादे विशेषा